तेरा की गिनती का अटल जी की किस्मत से अजीब व गरीब रिश्ता बन गया है क्या वो बीजेपी की तेरहवीं करवाकर ही दम लेंगे इस मजेदार गाने में कुछ ऐसे ही इशारे हैं tarde inteira सा ये प्यार अटल जी प्रेम के नाम पर अपने आप से प्रेम करने वालों करोड़ों का काला धन जमा करने वालों फूट डालने वालों देश और जनता को डांटने वालों की देशभक्ति का एक नमूना पेश है हमको धन की शक्ति देना ब्लैक हो भले शक्ति देना ब्लैक हो भले पैसे नोट देना जो विदेश में चले हमको धन की देना राम भक्त है सारे मन ரிபா से कहो कि कारगिल में वो रिश्ता हमको है अजीज वोट नोट का ये रिश्ता हमको है अजीज आपकी समझ से थोड़ी दूर है ये चीज wishing me हम हैं भाई कारगिल का राजनैतिक फायदा किसने उठाया किसने नहीं इस बात की चर्चा हो रही है लेकिन सबसे बड़ी बात है सो कौन रहा था किसकी लापरवाही के कारण सैकड़ों जवान शहीद हुए देश पर करोड़ों खरबों का बोझ पड़ा इन सच्चाइयों से आंखें चार करती है कविता निशाने पाकिस्तान अटल जी की कहानी अटल जी की जबानी हमने उनको दे दिया था अपना दिल क्यों उन्हें फिर रास आया कारगिल सोई थी सरकार मैं मधोश था दुश्मनों की दोस्ती का जोश था मैं अटल हूं वो शराफत की है खान सोचकर मैं चल पड़ा था पाकिस्तान फायदे लाहौर के दसियों गिने ख्वाब में कई गेरवे मोती बिने पोखरन की याद से भयभीत था उसकी गर्जन में जो कड़वा गीत था सारे वोटर मुझसे घबरा से गए उनकी चितवन में थे कुछ तेवर नए तीन सूबों में हमें दे दी शिकस्त हो रही थी जब मेरी हिम्मत भी पस्त तब मेरे संगी सिपाही जग गए अपने अपने काम से यूं लग गए कुछ ने हमले कर दिए गुजरात में सोनिया गांधी के थे वो घात में सोनिया पे बस नहीं पाया तो गिरजे ढा दिए मेरे बजरंगी पियादे थे वो किस दिन के लिए जब मुसलमानों पे ना सिखों पे चल पाता है बल तब ये ईसा के परस्तारों से कर लेते हैं छल एक फिरंगी पादरी और उसके दो बच्चों की लाश कर दिया तीनों ने मेरी असलियत का पर्दाफाश दुनिया भर के लीडरों के टेलीफोन आने लगे गोया मेरी पार्टी के मुंह से खून आने लगे तब मेरे एक मित्र संपादक बड़े अखबार के बोले हम भी हैं अहम खंबे इसी सरकार के हो इजाजत तो पड़ोसी मुल्क से ले लूं मदद होंगे वैसे तो दिफाई रिस्क इसमें कुछ अदद साधु रूपी मिल के मालिक सब भजन करने लगे और बस के दौरे की सफलता के जतन करने लगे इस तरह दाखिल हुआ सरहद के दरवाजों को चीर जैसे रांझे की जगह मजनू को खोजे कोई हीर दो दिनों तक खूब जम के की गई खातिर वहां मेजबानी में मियाँ साहेब सहे शातिर कहाँ खाना पीना बरतरफ तफरी जो की लाहौर में काम की बातों का मौका था कहाँ उस शोर में कारगिल की थी भनक पर मेजबा का था ख्याल यार की महफिल में जिक्र जंग था मुझको मुहाल सोचा सारी तलख बातें बिल के जिम्मे छोड़ दूं गैर जानबदार भारत का भरम भी तोड़ दूं मैं हूं मुफलिस की जवानी वो मलुकियत का बाप ऐसे ये पेचीदा रिश्ते ना समझ पाएंगे आप सोचा इस कश्मीर के झंझट में काहे को पड़ो वो है अमेरिका का मसला बेवजह तुम क्यों लड़ो वैसे तो कहने को हम रखेंगे अमेरिका को दूर पर हकीकत ज्यादा ही कुछ तलख है मेरे हुजूर गर है सच से तुमको उल्फत मेरे भी हैं कुछ उसूल पार्लियामेंट में डिस्कशन कश्मीर पर होता फजूल झूठ के एक है मिनिस्टर ठेका उनको दे दिया दूरदर्शन की सुनो सच है जो उसने कह दिया इस तरह लाहौर से लौटा तो जय जयकार थी मैं था असली हीरो ऑपोजिशन पर फिटकार थी तब ही मेरे दोस्त फर्नांडिस की मत मारी गई तब ही मेरे दोस्त फर्नांडिस की मत मारी गई नेवी के अफसर की बीबी से उलझ बैठे यूं ही जय ललिता को तो थी ऐसे ही मौके की तलाश थोड़ी सी बाकी थी जो इज्जत हुई यूं सर्वनाश मेरी लड़िया से लुढ़क कर सांसद ऐसे गिरे कर गए मेरी ही किस्मत को उलार वो सर फिरे मेरे ही कुछ चाहने वालों ने बदले ऐसे भेस कुछ को धमकी से संभाला कुछ ने मांगे सूटकेस फिर भी मेरी फूटी किस्मत में पड़ा एक वोट कम फिर भी मेरी फूटी किस्मत में पड़ा एक वोट कम बिजली टूटी मेरे सर पे निकला अडवानी कदम तब उसे ये चाल सूझी है मुझे शर्मिंदगी क्योंकि उस चालाक ने दे दी मुझे फिर जिंदगी बोला वो यूं मुस्कुरा के क्यों अटल जी हो दुखी जीत लो जाकर चुनाव जाओ हो जाओ सुखी मैंने पूछा क्या है मुद्दा किस लिए अकड़े हैं आप साल भर में कौन सा मोटा चूहा पकड़े हैं आप डांट कर बोले सुनो मिस्टर रहोगे मौज में मेरी ये दरखास्त जाके दे दो अपनी फौज में उनसे बोलो कि तुम्हारी जान पर बनाई है दूसरे उनकी इमेज पर भी जमी कुछ काई है जर्मनी की फौज में हिटलर ने फूकी थी जो गैस जाओ जल्दी तुम उसी हथियार से हो जाओ लैस फौज की हिम्मत बढ़ाओ हो रहे हो लेट तुम वरना दुश्मन की जगह चाटोगे खाली प्लेट तुम लफ्ज दुश्मन से मेरा मतलब नहीं कोई हरीफ हरीफ कहते हैं दुश्मन को लफ्ज दुश्मन से मेरा मतलब नहीं कोई हरीफ आपके तो असली इमेज बिल्डर है मिस्टर शरीफ कारगिल में थोड़ी उनसे जाती हो भी जाए ऑपोजिशन को ही असली मुनहरिफ बतलाया जाए मुनहरिफ भी दुश्मन को ही कहते हैं कारगिल में थोड़ी उनसे ज्यादती हो भी जाए ऑपोजिशन को ही असली मुनहरिफ बतलाया जाए कर दो हमला उनके ऊपर जैसे हिटलर ने किया लोगों ने तारीख के विष को यूं ही अक्सर पिया है इलेक्शन का समय मौका न खो देना कहीं हो रहा है जिस तरह भारत को सेना पर यकीन वक्त है थोड़ा मिटा दो पार्लियामेंट का तुम निशान बाद में चुपके से ले लेना निशाने पाकिस्तान हमारे देश के नौजवान आज़ादी के समय से ही लोकतंत्र के लिए लड़ते चले आ रहे हैं हाल में हमारे लोकतंत्र को एक बड़ा सहारा मिला जब वोटरों की उम्र 21 बरस से घटाकर 18 बरस कर दी गई आज के बदलते दौर को देखते हुए ये जोशीला गाना हमारे जुझारू नौजवानों को समर्पित है जाता है तू कहा जाता है तू कहा जाता है तू कहा सुन प्यारे सुन प्यारे रुक जा गेरुए लोगों के टेढ़े मेढ़े रास्ते खतरे ही खतरे है तेरे वास्ते जाता है तेरा हाथ है किसके हाथों में तू दिन में चोर जाता है तू कहा जाता है तू कहा रिपोर्टर जाता है तू कहा हाथ में जोड़ू तोरे पड़ू मैं बलमा तोरे पैया छोड़ के तू मोहे ना जाकर Little. मिला तुझको आज करना है डूब जाना है या उभरना है उस तरफ झूठ है दिखावा